और हमने उन पर एक जबरदस्त बारिश बरसाई चुनाचे बहुत बुरी बारिश थी जो उन लोगों पर बरसी जिन्हें पहले से खबरदार कर दिया गया था